मात्रा यह जो तीसरा मात्रा है इस त्रिमात्रा विशिष्ट ओम को ओम इतना एवं अक्षरेण ओम यहाँ पर भी विशेषण देना त्रिमात्र अगर छोड़ा नहीं ओम इति एतेन अक्षरेण ये भी कह रहे ऐसा लग रहा ओम को छोड़ना नहीं तभी तो भी कहना पड़ा अधिक नहीं तो ओम पहले कह आ ही रहे हैं सभी जगह ओम की मात्राओं की चल, चल रही है या केवल तीसरे मात्रा अरिष्ट होता जैसे पहले में केवल प्रथम एक मात्रा दूसरे में केवल द्वितीय मात्रा अपेक्षित था यहाँ पर भी केवल द्वितीय मात्रा अपेक्षित होता फिर ये कहने की जरूरत नहीं थी ओम इतने अक्षरेण ये अधिक कहने क्या जरूरत विशेषण परम पुरुषम अविध्यायित ऐसा परम पुरुषम अविध्यायित सत्य से सूर्य संपन्न वह पर पुरुष परमात्मा का ही अभिध्यान कर रहा है और पूर्वोदय मंत्रों में वो किसका भी ध्यान कर रहा है ये कुछ नहीं कर रहे एकमात्र विद्या है ना दिमात्र विमात्रेण तो वहां से ले आएंगे हम लेकिन विमात्र के द्वारा किसका भी ध्यान कर रहा है एकमात्र के द्वारा किसका भी ध्यान कर रहा है नहीं कहा गया और वहां एकमात्र में विद्यायित है शाला में और द्विमात्र यह तृतीया है ये भी ध्यान रखने की चीजें हैं पहले तो कर्मणी है है ना एक कर्मणी था और ओंकार अविध्यायित वहां पर भी प्रथमाधि कर्मणी ओंकार अविध्यायित कर्मणी एकमात्र विद्यायित कर्मणी दो बार कर्मणी आया ठीक है ना और यहाँ पर आया द्विमात्र ने तृतीया और त्रिमात्र ने भी तृतीया आ गई है ये थोड़ा विचारणीय विषय बनता है यहाँ वहां पर ओंकार विद्या दो जगह कर्मणी प्रयोग हो गया दो जगह तृतीय कर्ण प्रयोग हो रहा है कर्मणी प्रयोग करने पर प्रतीकोपासना मानी जाती है कर्ण का प्रयोग होने पर संपद उपासना माना जाता है ये भी अंतर रखना है पहले दो में तो आ जाएगा फिर एक एक मात्रा में आ जाएगा कर्म होने से प्रतीकोपासना इन दोनों में संपत्ति उपासना माननी पड़ जाएगी यह तो व्यवस्था हो जाएगा इसलिए या तो सभी को कर्म नहीं कर दो या तो सभी को कर्ण में आपको जो है बदलना पड़ेगा उसके बिना व्यवस्था नहीं बनेगी तो इस विचारों को देखकर भाष्यकार जो कहेंगे वो बहुत ही गहन विचार है यहाँ पर आंधगिरी का भी देखने लायक चीजें हैं इसलिए तो देखते हैं उसको तो परम पुरुषम अविद्यायिता और यहाँ पर उस मात्रा द्वारा ध्यान के विषय को भी प्रकट कर दिया है सतेज सूर्य संपन्न वह तेजोमय सूर्य के साथ एक ही भूत हो जाता है और उसी प्रकार सकल पापों से मुक्त हो जाएगा जिस प्रकार सांप अपनी केंचुली को छोड़कर अलग हो जाता है अपने पुराने चरम को त्याग देता है केंचुली कहते हैं उसको त्याग करके वो अलग स्वच्छ नया होकर के निकल पड़ता है वहां से उसी प्रकार से ये भी सकल पापों से पाप पुण्य जो इस लोक की योग्यता या अन्य लोगों के भोग की योग्यता उन सबको त्याग करके ब्रह्मलोक के योग्य पुण्य मात्र के साथ चाहता है विनिर्मुक्ता सागर ब्रह्मलोक पुण्य है असामाभिमानी देवताओं के द्वारा ब्रह्मलोक तोड़ ले जाया जाता है और स वहा वह एक जीव घना पर जीव घने पर है जिसको आप हिरण्य गर्भ कहते ईश्वर कहते हैं उससे भी परम पुरुषयम उससे भी जो पर है जो सगल पुरो में शयन करने वाला आत्मा है शुद्ध उस पुरुषम इच्छत है उस पुरुष का अनुभव कर लेता है इस प्रकार से वह मुक्त ही होता है लौटने का प्रश्न ही नहीं है और तीसरा मात्रा मृत्यु मत्या भी कह रहे हैं यहाँ लौट रहा नहीं ये बात बता रहे हैं इसलिए इसका अर्थ ग्रहण विलक्षण रूप से करनी ही पड़ेगी व्यवस्था देनी पड़ेगी अब भाष्यकार जो व्यवस्था दे रहे वो देखिए न रेतम ओंकार त्रिमात्र विषय मात्रा विषय विज्ञान विशिष्ट ओम इत्येन परम सूर्यांतर्गतम पुरुषम प्रतीक अविध्यायित प्रतीक अविध्यायित सर्वत्र प्रतीकोपासना अपेक्षित है यदि भी कर्ण है कर्ण जहाँ पर होता है संपद उपासना मानी गई है लेकिन भाषकर या प्रतिक्रिया जानकर घुसा दिए कहे त्रिमात्र के द्वारा मैंने तीन मात्राओं का विषय विज्ञान से विशिष्ट होकर के कर रहा केवल तीसरा मात्रा नहीं यहाँ भाषकर तृतीय ने नहीं कहा वहां द्विमात्र के वाक्य में भाषकर ने क्या लिखा था द्वितीय मात्रा रूपम द्वितीय मात्रा रूप यजुर्वीर है द्वितीय शब्द प्रयोग कर रहे हैं वहां पर है ना और यहाँ तृतीय कार है त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टम तीनों को ही लेनी है कौन सा प्रदान करना हो बात अलग है ओम इतना परम सूर्यांतर्गतम पुरुषम जो पर है सूर्य के अंतर्गत जो पुरुष है उसको प्रतीकेन विद्या तो आदित्य मंडलस्थ पुरुष को प्रतीक उपासना कर लेता है विज्ञानी विद्या तादृश प्रतीक ही आरमृतम प्रकृतम ओंकार से परंच परंच ब्रह्म इतवे श्रुत है ओंकार द्वितिया अनेक श्रुता बाध्य अन्यथा देखो स्पष्ट कर दिया कि ये उपक्रम में जो चीज है वही उपसंहार में होना ही चाहिए यदि उपक्रम में तृतीया होती यहाँ तृतीया है तो उचित बनना उपक्रम द्वितीया है ओंकार था उपक्रम में तदनंतर तो वाले में भी एकमात्र अविद्यायित यही था इसलिए कहते हैं अनेक द्वितीय श्रुता जो अनेक उपक्रम सबसे प्रबल है तदनंतर में भी कर्म ही द्वितीय श्रोत था वह बाधित हो जाएगा यदि आप इस बात को नहीं मानते हैं या तृतीया पर अड़ेंगे तो वह उपक्रम के साथ विरोध हो जाएगा इसलिए प्रतीकत्व ही आरम्भम प्रकृतम प्रकृत क्या है इसलिए प्रतीकत्व ही आरम्भ करना अपेक्षित है संपत्ति रूपेण आलम्बन करना इष्ट नहीं है कहा लिखा है ओंकार के अंदर प्रतिकत्व नहीं आरम्भ प्रकृत था कैसे आपको पता चला कि वह पूर्व शुरू में लिखा परंच अपरंच ब्रह्म इत्यवेद श्रुत है ओंकार श्रुति भी है परंच परंच ब्रह्म और इधर ओंकार है ना शुरू में जो पहला मंत्र था स्पष्ट कोटि में आप देखेंगे यही बात कह रहा है जो भाषिका ने बता रहे ओंकार विद्या तो है ना और आगे एक सत्य काम परंच अपरंच ब्रह्म यद ओंकार या समरण कर दिया अभेद यद तो ओंकार तदेव परम च परम च ब्रह्म ये नहीं हो गया और ओंकारम च प्रयोग हो रखा है द्वितीय प्रयोग है यह अभेद कथन और द्वितीय का कथन तदनंतर में फिर द्वितीय पर जो आया ये एकमात्र विद्यायित यह अनेक बार द्वितीय का प्रयोग जो किया गया और साथ साथ जो अभेद कथन हुआ है उसका साथ वो बाधित हो जाएगा या उसके साथ विरोध हो जाएगा इसीलिए प्रतिगत आलम्बन मानना ही उचित होता है यद्यपि तृतीया स्पष्ट कह रहे देखो यद्यपि यह तृतीय विभक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है अभिधानत्व करणत्व उपद्यते उसकी वृत्ति से विचार करते हैं तो करणत्व ही उपन्न हो जाता है इसमें कोई संशय नहीं है तथापि फिर भी प्रकृतानुरोध त्रिमात्र परम पुरुषम द्वितीय परिणय फिर भी प्रकृति के अनुरोध प्रकृति के अनुसार जो प्रकरण का उपकर्म के अनुसार आपको यहाँ पर विचार तो रहना चाहिए कहते त्रिमात्र परम पुरुषम त्रिमात्र परम पुरुषम ऐसा ही लेना चाहिए द्वितीय परिणय नियम क्या है किस युक्ति पर जा रहे हो त्यजेदेकम ग्राम सर्धे कुलम त्यजेत ग्राम जनपद स्यार्धे आत्मा सकलम त्यजेत न्याय त्यजेदेकम ग्राम ग्रामस्यार्धे कौन त्यजेत ग्राम के लिए कुल को त्याग देना चाहिए यदि वह कुल ग्राम के लिए अहितकारी बन रहा हो उसको त्याग कर ग्राम के हित में ही लगना चाहिए और इसी प्रकार से कहते हैं कि भाई जनपद से ग्रामम त्यजित जनपद का हित में ग्राम को भी त्यागना उचित होता है और आत्मार्थ है तो सर्वम त्यजित और स्व कल्याण के लिए तो सब कुछ त्याग देना चाहिए इस युक्ति के आधार पर उपक्रम जो चला हुआ था उसके लिए क्योंकि उपक्रम उपसंहार के आधार पर ही वेदांत का वाक्यार्थ बोध किया जाता है उपक्रम का विरोध हम नहीं कर सकते और ये उपसंहार भी नहीं है उपसंहार और आगे जाके इसी कारण से कहते कि देखो बीच में इस प्रकार की जो कोई बात आ भी जाती है तो उसको उपक्रम के अनुसार करने के लिए यहाँ की तृतीया को त्याग देना अनुचित नहीं है उचित ही है न्याय त्रिमात्र करके प्रकृत जो है अनुरोध से पर करनी चाहिए द्वितीय परिणाम करनी चाहिए स तृतीय मात्रा रूप स तृतीय मात्रा रूप तेजसी यहाँ सप्तमी पाठ वेद भी है तृतीय मात्रा रूपे तेजसी सूर्य संपन्न हो तृतीय मात्रा रूप जो तेजो में सूर्य लोग को प्राप्त कर लेता है ध्यावारो मृदोपी सूर्या सोमलोका न पुनरावर्तते देखो ये भी कह रहे लेकिन ऐसा ध्यान करता हुआ व्यक्ति मरने के पश्चात वहां जाएगा और जा करके जैसे सोमलोक से लौटा था वैसे वो सूर्य लोक से लौटता नहीं है किंतु सूर्य संपन्न मात्र एवं किंतु सूर्य में संपन्न मात्र ही हो जाता है स पापन इत्यन्वया क्यों क्योंकि स्वपापना विनिर्मुक्त क्योंकि वह पाप से निर्मुक्त होकर गया हुआ है तो लौटेगा लौटेगा वो ना जिसके अंदर पाप भी बना रहता है मिश्र कर्म के बिना वह पृथ्वी लोक में नहीं आ सकता पाप पुण्य सम हो मिश्रित हो वही लौटेगा जिसका पाप ही नहीं रह गया लौटेगा कैसे वो वो इस लोक में तो लौट ही नहीं सकता इसे टिप्पण टिप्पणकार कहते हैं संबंध मात्र का अनुभव कहाँ करोगे आप सब पाप जो मूल मंत्र में है उसके साथ अन्वय करके ग्रहण कर लेना चाहिए यहाँ तक पढ़ने आप टीका में जाइए थोड़ा यहाँ देखो विज्ञान विषय कृत है ना मात्र त्रयात्मक ज्ञाते नहीं मात्र त्रयात्म रूपेण जानना चाहिए सोम को त्रिमात्र ओम इतने अक्षरेण ये विशेषण देने से केवल माँ को नहीं लेना वहां पर केवल अ केवल उनको को लिया यहाँ पर भी केवल माँ को लो ये कह सकते थे कहते तो नहीं यदि ऐसा होता तो ओम इतने नहीं व अक्षरेण ये शब्द प्रयोग नहीं होता उसीलिए अब मात्र प्रयात्मा ज्ञात रहेगी पूर्व दत्रा भी त्रिमात्र तृतीया मात्रा मकार उच्चरी भ्रम वारित नहीं वो अक्षर नित्युक्तम आगे पूर्व विजय के समान आप एक एक मात्राएं ना ले लें वह भ्रांति को निवारण करने के लिए यहाँ मूल मंत्र में सात ओम इत्येते नहीं अक्षर भी कहा गया नहीं दिखाए रहे कहे थे यह पुण्य तंत्र मात्र विद्या परम पुरुष परम पुरुष विद्या चले जाते बीच का जो हिस्सा है ओम इत्येते नहीं अक्षर जो मंत्र में है वो इस बात का ज्ञापन करता है केवल केवल वो जैसा वैसे केवल म करना नहीं चाहिए आउ सहित म को करना म में भी म अक्षर प्रधान नहीं उस पर और आगे विचार करके बताएं देखिए पूर्व तत्न मात्र प्रधान ओंकार एवं उच्चते मत यही इदम विशेषणम अनुपन्नम लेकिन यहाँ पर ये विशेषण दे दिया वह अनुपन्न होकर इस बात ज्ञापन करता है पूर्वत्र ओंकार से उक्त क्योंकि पूर्व में भी ओंकार कई अवयवों के बारे में कह दिया गया था तो यहाँ भी ओंकार कई अवयव कहा है ना यदि अवय मात्र अपेक्षित होता पूर्व में जिस प्रकार से ओंकार के अवयव को वर्णन हुआ वैसे यहाँ भी ग्रहण हो ही रहा है तो अतिरिक्त ये विशेषण जो कहा गया ओम इत्य नहीं वक्षरेण ये व्यर्थ होगा अनुपन्न हो जाएगा तन्मतम अनुपन्नम इव भाती इसलिए जो लोग व्याख्या करते हैं केवल तीसरी मात्रा कर लो वह बात बिल्कुल अनुपन्न है ये भान, भान हो रहा है और त्रिमात्र तृतीया श्रवण यदि बात शंका होगी त्रिमात्र में तृतीया का श्रवण करने से ओंकारो न प्रतिगम तथा सदी विषेतन विषेतन कर्म दिया द्वितीया किंतु अभिधायक कर्णत्व तृतीय ब्रह्म वारियति भाष्यकार प्रतीक इत्यादि कोई तो ऐसी शंका कर सकता है इसलिए आपको जो ना तथाकथित विषय कर्म दया क्योंकि प्रतीक यदि मानना है तो विषय बनेगा वो तो प्रति को उपासना बनेगी तो द्वितीय होनी चाहिए किंतु अविधायक न कर्ण तुम है वो यहाँ देखने में क्या दिख रहा है अविधायक कर्ण तो माननी पड़ेगी तृतीया बला इति वारती इस भ्रम को वारण करने भाषा है प्रतिक्रिया मूल में तो कर्मत्व भी कारकत्व क्रिया निर्वर्गत्व हेतु यद्यपि कर्म है ओम कि ओम ही पर ब्रह्म ओम ही अपर ब्रह्म कर्म इसलिए तो मानना पड़ेगा कि ओम से भिन्न कोई ब्रह्म होता ओम से भिन्न कोई पर ब्रह्म अपर ब्रह्म होता तो ये हो क्या होगा संपद उपासना बनेगा प्रतीक नहीं बनेगी क्योंकि ओम से भिन्न वस्तु का मैं सारण प्राप्त कर रहा हूं तो कर्म कौन होगा ओम से जो भिन्न वस्तु वो होगा और ओम तब करण बन जाएगा लेकिन ओम से बिन तो नहीं है ना क्योंकि अभेद कथन हो चुका कि परंच अपरंचित ओंकार पहले बोल चुके पहले मंत्र जो दूसरा प्रश्न के अंतर वाले मंत्र में ही ये बात जवाब देते कह दिया जो ओंकार है वही पर ब्रह्म है वही अपर ब्रह्म अगर ओंकार कर्ण हो नहीं सकता तो कर्म रूप है रूप इसलिए इनका कहना है कि देखो सबसे कर्मत्व इसलिए उस ओंकार को कर्म मानने के बावजूद भी हमें क्या करना पड़ेगा कारकत्व विज्ञान क्रिया नत्व कारकत्व ने क्यों हमने ग्रहण किया तृतीय कारकत्व ना तब कहते हैं अभिध्यान क्रिया का निर्वर्तक हेतु अभिध्यान रूपी क्रिया में वह साधन भी है अतएव यदि तृतीय प्रयोग कर रहे हैं तो भी गलत नहीं है तन मात्रा विवक्षया तृतीय इतनी हेतु को लेकर के इसी के वजह से तन्मात्र ने एताश कारण को लेकर के हम तृतीय कथन कर रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है एवं व्याख्यान हेतु महा ऐसा व्याख्यान करने में कारण क्या है प्रतिगत इत्यादि भाष्यकार ने बताया अभेदी प्रतिगत्व ही अधिष्ठान अध्यक्षमान हो तादात्म्य आरोपात क्योंकि प्रतीक उपासना में होता क्या है अधिष्ठान और अध्यक्षमान इन दोनों का तादात्म कथन किया जाता है आरोपाद अभेद श्रवण उपदित जो अभेद श्रवण है शुरू में वो भी उपपन्न हो जाएगा कर्णत्व तो न तद उपदित और कर्णत्व रहते हैं उसी को मुख्य रूप से ग्रहण करते गौण तृतीया नहीं गौण तृतीया न कर करे कर्णत्व को प्राधान्यता देते हैं यथाश्रुत को स्वीकार कर लेते हैं परिणाम की बिना फिर तो पूर्वोक्त अभेद है उसके साथ उपपत्ति नहीं होगी इतना ही नहीं ओंकार में विद्या तो शुरू में कहा था सा यदि एकमात्र विद्या तो यदि द्विवार श्रोता दो बार द्वितीय श्रोत है अन्यथा जैसे देने भैया यदि उस दो बार श्रुत भी उपक्रम में और तदनंतर भावी में जो श्रुत बात है उसका बाद भी हो जाएगा यदि आप हाँ, इस द्वितीय परिणाम करके कर्मत्व प्रतीकोपासना स्वीकार नहीं करते हैं तो आते यदि द्विमात्रण यह पुनरेतम त्रिमात्रण इच्छा जिसमें दो बार लिंग तृतीय आई है ना दो बार द्वितीय दो बार तृतीय आई लेकिन दो बार द्वितीय के बराबर दो बार तृतीय दोनों समान हो गया लेकिन वह हेतु एक और मेरे एक्स्ट्रा हमको क्या अभेद जो कथन हुआ है परंच परमचर्य तत्व वो जो अभेद कथन हुआ है वो उसमें एक अधिक हेतु भी है युक्ति है यदि तृतीया द्विवार श्रुदा यद्यपि तृतीया भी दो बार श्रुत है द्वितीय भी दो बार श्रुत है फिर भी हेतु अपेक्षा कर्णत्व सरसा चकार के व्यक्तित्व किंतु हेतुत्व की अपेक्षा से कर्णत्व को लेकर के स्वरसा कारक व्यक्तित्व स्वरसा कर्णत्व स्व अर्थ बोध करता हुआ कार्ग व्यक्तित्व को स्वीकार करने पर तथा तस्या भी बाद न युक्ता उसका भी बाध करना हम, हमें उचित नहीं महसूस होता है यदि शंकत यद्यपि ऐसा तो पूर्व पक्ष ने इसे शंका किया अरे ये भी दो बार कही गई वो भी दो बार कही गई है दोनों बराबरी तो है ना बल इसका भी तो काटना नहीं चाहिए इसको भी बने रहने दो उसको अपने जगह पर बने रहने दो तो ऐसा नहीं हो सकता द्वितीय दृश्य कर्मत्व स्वार उपक्रम देखो हेतु तो अधिक है यहाँ क्या है द्वितीय जो श्रुत है ना वो कर्मत्व है वह कर्मत्व होने के नाते अभेद श्रुति का बात नहीं करता अभेद श्रुति के अनुकूल है एक बात और दूसरी बात उपक्रम सत्ता अच्छा उपक्रम तृतीया का बात बीच में आया वह तृतीया नहीं कर सकती तस्व प्राबल्यम इत्यादि तथा इत्यादि न प्रकृति मैंने प्रक्रमन रोधा किंच द्वितीय द्वयम उक्त भेद श्रुति द्वयम उक्त भेद श्रुति और उपक्रम इन तीन हेतुओं के कारण से हमें इस तृतीय को बदल करके द्वितीय बना लेनी चाहिए और यहाँ पर भी प्रतीक उपासना ही समझना पड़ेगा पॉइंट इतना क्लियर हो गया यहाँ इसलिए पूर्वोक्त कथन का विरोध हुआ कि नहीं जो टिप्पण का दीपकाकार है सब गलत साबित हो रहे इसलिए यहाँ पर जो है तृतीय माता मातृ को नहीं ले सकते केवल माँ को नहीं ले सकते क्यों ओंकारेण अक्षरेण ये जो कहा है वो विशेषण गर्थ हो जाएगा पूर्व में भले एक एक मात्राएं पूर्व में लेकिन ऐसा नहीं है पूर्व में आपको एक एक मात्रा ही लेनी पड़ेगी पूर्व में आपको एक एक मात्रा ही लेनी पड़ेगी और यहां पर आपको तीनों मात्रा लेनी पड़ेगी एक तो ये अंतर इसलिए पूर्व कथन उन लोगों का गर्थ हुआ कि नहीं हुआ टिप्पणकार और टीकाकार की दीपिका कार्य हम्म? यहां भी हम केवल तीसरे मात्र लेते यदि हम शिक्षण नहीं होता फर्क नहीं समझ में आ रहा है यहाँ ये क्यों कह रहे हैं ओम इत्यते नहीं अक्षरेणा कहने क्या जरूरत जैसे ओम से आरंभ हुआ है ओम के अवयवों का कथन किया जा रहा है यदि यहाँ पर भी केवल अवयव अपेक्षित होता तो विश्रम देते ही नहीं यह अवयवी अपेक्षित है और वह अवयवी अपेक्षित नहीं है अवय अपेक्षित है यदि सर्वत्र अवय ही अपेक्षित होता तो यह विशेषण नहीं देते एकत्र विशेषण देना और अन्यत्र विशेषण नहीं देना ज्ञापन करता है कहीं पर अवय भी लेना है कहीं अवयव लेना यदि कहीं कोई विशेषण ही नहीं होता तो आपकी तरफ मान लेता भाई सब जगह अवयवी अवयवी ही लिया जा रहा है सब जगह अवयवी ही को लिया जा रहा है यह हम मान ले सकते थे यदि कहीं विशेषण नहीं होता या सर्वत्र विशेषण होता लेकिन ऐसा नहीं किया है मंत्र में दो जगह केवल शब्द का प्रयोग हुआ एकमात्र न द्विमात्र न करके एकमात्र और द्विमात्र न कह करके यहाँ विशेषण दिया गया है ये ज्ञापन करता है उन जगहों में एक एक अक्षर को लेनी है और यहाँ पर अक्षर त्रय को लेना है इन प्राधान्यता क्रमानुसार है ना तृतीय मात्रा को प्राधान्यता करनी है एक बात तो यह है और दूसरी बात यह प्रतीक उपासना प्रणाम भी करनी पड़ेगी पूर्व प्रक्रम का प्रक्रम के अनुरोधात आवेदन श्रुति अनुरोधात द्वितीय द्वय श्रवाच तीन हेतु दिए उमा को गखा जाता है और सुबह हमने बताया था इस बात को आ का ही उच्चारण कर रहा है उमा को खा गया ऊ का ही उच्चारण करता है आम को खा गया जैसे शुरू अब आया शुरू ही कर रहे हैं लोग क्या करते लोग ओ हाँ, खत्म हो गई ओ को ही उच्चारण कर रहा है मैंने ऊ मात्रा को ही ले रहा है अ वाला अ को ही ले रहा है केवल क्यों नहीं आया केवल अ मात्रा बोलो कर सकते क्यों नहीं कर सकते इसे केवल मात्रा केवल मात्रा और यह तीनों का त्रिमात्र क्यों कहा तृतीय क्यों किया इसीलिए यह पुनरहित ओंकार तीन क्षरेण कह देते तृतीय शब्द नहीं प्रयोग होता इतना समान लेना होता ना फिर क्रम के अनुसार पहला ने एकमात्र बोल दिया दूसरा बोल दिया तीसरे में यदि आपको तीसरी तीसरी उपासना बतानी है एक तीसरी उपासना बतानी है कि संपूर्ण अवैध को लेना ऐसा बराबर लेनी होती फिर तृतीय मातृमात्र नहीं कहते फिर ये कहते यह पुनरेतम ओम इत्येते नहीं अक्षरेणा इतना ये कहा देते तब होता फिर समान मात्रा देते तीनों लोग और तीनों बराबर हाँ? ओम स्वयं सावय वस्तु है ही है ना तीनों के तीनों उसके अंदर है ही अलग से बोलने की जरूरत है मात्रेण कहने की जरूरत नहीं है, है? हाँ? कैसे होगा अक्षरेण कह देता हम अवय भी ग्रहण होती अवयव ग्रहण का तब तृतीय मात्र इतना ही कहते केवल त्रिमात्रेण कहते तब केवल मौर भी अवय ग्रहण लेते हैं तीसरा वाला और ओम न कह लेता तो अवय भी तीनों आ ही गया फिर त्रिमात्रण का अर्थ हो गया समझ जा रहे ना फिर त्रिमात्रण करने कोई जरूरत नहीं ओम इतने अक्षरण का मतलब भी अवय भी है ओम तो अवय भी है ये तीनों आ ही गया गौण प्रधान भाव इष्ट नहीं होता त्रिमात्रण नहीं कहते लेकिन त्रिमात्रण भी कहा दिया ओमित्य ने लक्षण ने भी कहा दिया अर्थात तीनों ही रखो और तीसरा प्रधान करो ये इसमें लक्ष्य थे इसलिए सब व्यवस्था देना पड़ रहा है नहीं तो फिर फल भेद भी नहीं हो सकता ये तीनों मात्र भाग रखेंगे आदित्य लोग क्यों जाएगा भाई उनका भी तो फल मिलना चाहिए यदि गौण न हो उनका भी तो फल सम प्रधान है तो तीनों का फल मिलना चाहिए फिर ये कैसे कार्य सब आत्मना विनिर्मुक्ता हो गए यदि वे दोनों मात्रा अत्यंत गौण न हो पापना विजुर्मुक्त बात कैसे घटा हो गई वो तो पुनरावृत्ति वाला साधक है साधन है वस्तु और वो जो है पुनरावृत्ति का साधन है ना यदि उसको भी सम प्रधान में रखोगे तो पापना निर्मुक्त और अपनरावृत्ति ये नहीं घटेगा इसलिए दोनों बातें कहना चाह रहे हैं दोनों मात्राओं का भी ज्ञान जरूरी है लेकिन गौण करोगे प्रधान इनको करोगे तभी अपनरावृत्ति को फल मिलेगा लेकिन उन उन्मात्र को त्यागोगे तो विकल्प साधना से पूर्णत्व प्राप्त नहीं हो सकती केवल वह मात्र लूंगा तो क्या होगा विकल्प साधना होगी अवयवी का एक अवयव का प्रयोग पड़ा तो अवयवी को नहीं पकड़ा तो पूर्णत्व कहां से मिलेगा आते ओम तृतीय वक्षण तीसरा ये भी कहना जरूरी हो गया दोनों शब्द इसलिए प्रयोग करें तृतीय ने भी कह रहे ओम तृतीय वक्षण कह रहे दोनों कहने का देवी मतलब की पूर्ण उपासना करो केवल एक टुकड़े टुकड़े को नहीं करना पूर्ण भी करना और उसमें भी जैसे पहले में एक एक मात्र प्रधान थी या तीसरे को प्रधान करो तीसरे दोनों शब्दों का प्रयोग करना आवश्यक हो गया है उसके बिना पूर्णत्व प्राप्ति नहीं कर सकते पहले में यही दोष है वो अवैध की उपासना किया है उसको अवैध ही फल मिलेगा पूर्ण फल नहीं मिलेगा इसमें दृष्टांत अब छांद प्रश्न में देखेंगे सूर्य का एक रश्मि को उसने लग करके सूर्य को एकत्व उपासना किया उसको एक संतान हुई और अनेक रश्मियों की सूर्य अनेक रश्मिवान है ऐसे उपासना किया तो उसका अनेक संतान हुए ये प्रमाण है इसलिए यदि आप एक अवय को लेकर चलते हैं उस अवयव मात्र का फल मिलेगा अवयवी को लेकर चलते हैं तो अवयवी का फल मिलेगा और उसमें भी इतने गौर प्रधान भाव से करो ताकि मिश्रित फल न मिले इसलिए इतनी बातें कह रहे हैं जोर दिया गया है और देखिए आगे फिर चलिए मूल में ये हो गया विचार समाप्त हो गया इतनी जरूरी थी चर्चा यहाँ क्योंकि टीका टिप्पणकार भ्रांति में यहाँ डाल रहे हैं दीपिका टीका और टिप्पणकार दीपिका का समर्थन करते हुए किंचित भ्रांति पैदा किए थे इसलिए हमने विचार किया अब देखिए और आगे में भी टीका में एक और पंक्ति पढ़ लो यद्यपि मात्रा त्रय ध्यान मात्रा त्रय रूपित्व एवं तस्या आया हो वो भी शंका त्रिमात्र तीनों प्रदान करने पर क्या होगा इसलिए मैं पढ़ रहा हूं आपके शंका के लिए यद्यपि मात्रा त्रय ध्यान मात्र त्रय रूप फल मिलना चाहिए ना रूप निरूपितम एव तस्य यद्यपि ऐसा फल होना चाहिए इन तथापि तृतीय मात्र एवं यह असाधारण स्पष्ट है ना तत्प्राधान्य निर्देशित बोध्यम इस तृतीय मात्र की प्राधान्यता से निर्देश होनी चाहिए ऐसा समझो नहीं तो मंत्र का परस्पर पौरा पर विचार भाष्य का विचार सब गड़बड़ा जाएगा से केवल तृतीय मात्रा ले तो भी गलत तीनों लेंगे तो भी गलत हो जाएगा विश्व मिलना चाहिए फिर अपना मुक्ति चले कैसे घटेगा अपनावृत्ति कैसे होएगा इसीलिए मानना पड़ेगा तृतीय न कहने से तृतीय मात्रा प्रधान रखो और ओमकार क्षण कहने से अहू को भी छोड़ना नहीं उनको भी थोड़ा थोड़ा ले लेना गौन कर दो ताकि उनका फल न चिपक जाए आपके पीछे जब पीछे नहीं तो उनकी फल चिपक जाएगी फिर तो मिश्र फल वाले हो जाओगे फिर लौटना पड़ जाए इसलिए उनको गौण इतनी करो ताकि उनका फल आपका पीठ सवार ना हो और तृतीय मात्र के प्रधान कर दो तो पुनः पुनरावृत्ति उसके फल में आप सिद्ध हो जाए इति बोध्यम दो भी हो सकता ना अनजान में भी लोग कर रहे उल्टा पुल्टा कर रहे हैं कुछ तो जान करके भी नहीं हम यही करेंगे अरे भैया क्या करें जैसे अमराज ने जानते हुए मैंने अनुष्ठान कर रखा था अब उसका फल भुगत रहा हूं जीवन मुक्त होते हुए ये ड्यूटी करनी पड़ रही है ये तो जानते हुए भी होता है ये कल भी जाना भी धर्म न चुने प्रवृत्ति क्यों नहीं हो जानते भी प्रमाद हो सकती है अनजान में हो ही रहा है सबों से हो रहा है वो बात ही छोड़ो अपराधी वो है जो जान के गलत कर रहा है वो महा अपराधी है अनजान में हो रहे हैं तो उनको तो फल तो मिलना ही है और जान के करने वाले का तो और भी पक्का है बल्कि उसको ज्यादा समय और भुगतना पड़ जाएगा कितने फर्क है कि पहले भी कहा ना कर्म को वहां पूछो उस चाकरण प्रकरण को देखो छांदवी परिषद में है क्या वो बिना ज्ञान का प्रकरण तो है या नहीं हो कर्म हो रहा था क्या उस स्वर्ग में वो फल नहीं मिलेगा स्वर्ग तभी मिलेगा और उपासना सहित करेगा तो अधिक फल मिलेगा ज्ञान सीत हो गया ना वो उत्कृष्ट फल मिलेगा या अधिक समय तक वहां पर बात करेगा इतना ही फर्क होगा इधर से यहाँ पर भी चाहे अनजान करके आप एक मात्रा को ले रहे हैं या जान के एक मात्रा को ले रहे हैं फल के अंदर कोई अंतर नहीं फल में उस कालावधि जो भोगावधि में तारतम्यता आ सकती है तो इतने सारे स्वरूप के लिए आप बताया आपने मान लो किसी ने सौ साल सौ बारह सौ में दिया किया क्यों किया भाई अरे एक बार कर तो स्वर्ग मिल गया काम खत्म नहीं बार बार कर रहे क्यों अधिक से अधिक समय हम वहां रहेंगे ना जैसे अधिक से अधिक पैसा जमा करके ले जाओगे अधिक से अधिक समय कश्मीर में जियोगे कहीं भी जाओ आनंद लेना चाहो जितना जेब में रहेगा उतना ही ना जितना अधिक ले जाओ उतना वहां एंजॉय करोगे जब खाली हो जाए वापस और ज्यादा नहीं लेके जाओगे तो क्या होगा दूसरे दिन लौटना पड़ जाए वो इतने महंगा है तो इसी प्रकार यहाँ पर पुण्य पुंज को बना रहा है ना वो एक मात्रा वाला और पाप पुंज भी साथ में है मिश्र फल वाला है वो लौटेगा जरूर इसलिए यहाँ पर बात कहा यह असाधारणता तत्प्राधान्य निर्देशित बोध्यम तृतीय मात्र रूप सप्तम्यंत पाटे तत्सूर्य विशेषणम एवं सप्तम्यंत पाटे भी मैंने कहा था भाष्य में तृतीय मात्र रूपा तेजसी प्रथमा दिख रहा है लेकिन लगता है वो भी प्रमादवश हो गया है सत्यनंद पाठ होना ज्यादा उचित है तो नहीं करना टीका समझा चुके हैं सप्तमंत पाठ है तब सूर्य विशेषण मकार से आदित्यात्मक हाँ, क्योंकि मकार क्या है आदित्यात्मक यह स्पष्ट हो रहा है मकार से आदित्यात्मक आदि कैसे कह रहे अच्छा ये मूल में वापस भाष्य में यथा पादोदर और पा विनिर्मुचित जैसे पाद और जो सर्प है वह त्वचा अपरिक्त को विनिर्मुक्त होकर जीर्ण तक विनिर्मुक्त त्वचा निर्मित में जो जीर्ण त्वचा है उसको त्याग देता है स पुनर्नवो भवती और नया पुनर्जन्म लय जैसे प्राप्त किया हुआ चमकता हुआ चमड़े के साथ चल पड़ता है एवं हवा ये यथा दृष्टान्त इसी प्रकार से जैसा दृष्टान्त उसी प्रकार ये जो सड़क है सपना पापना सर्प स्थानीय जो पाप के द्वारा सर्प की त्वचा के सारे वो पाप जीर्ण शीर्ण अनेकों जन्मों से आया हुआ है जो सारी चीजों को छोड़ देगा वो अशुद्धि रूपे विनिर्मुक्त सन सावी तृतीय माता रूपेर दे ब्रह्म लोकम हिरण्य गर्भ से लोकम सत्याख्यम सत्य लोक को प्राप्त कर जाएगा शीर्ष कल देखेंगे नहीं तो इसलिए कहते कि देखो सैर्य गर्वा सर्वेशम संसारिणाम जीवानाम मातुता सकल संसारी जो जीव इन सबका वो आत्मभूत है आत्मभूत मैंने इन सब के ऊपर अंतर्यामी रूपेण व्याप्त होकर अभिमान करने वाला है अतएव सभी के कर्मों का गमनागमन का हर चीज का उनको ज्ञान है ये अंतर को समझना है स्व ही अंतरात्मा लिंग रूपेण सर्वभूताराम आ गया ना क्योंकि वो अंतरात्मा ही है वो अंतर्यामी है कैसे लिंग रूपेण सर्वभूताराम लिंग शरीर में जो है ना रहा सर्वे जीवा क्योंकि समष्टि नहीं हिरण्य गर्भ में समष्टि लिंग शरीर होता जो हिरण्य गर्भ है उस हिरण्य गर्भ में ही लिंगाभिमानी समस्त जीवों का जो है जैसे जीवा गोत्र सामान्य खंड मुंडा रेयो जैसे गोत्र जाति कहा है सिंह में भी है खुर में भी है पूछ में भी है धन में भी है आंख में भी है उसके नथनी में भी है गोत्र कहा नहीं है पूरा गो पिंड के प्रत्येक अवयव प्रत्यवय अंगे अंग प्रत्यंग में रोम रोम में व्याप्त बाहर किसका गाय का बाहर है तो मुंडन कर दिया जाए कहना अमुक का क्यों उसके साथ उसका अभिमान है ये बकरी का है क्योंकि उसके साथ उसका संबंध को स्वीकार कर रहे हैं यहावत पर्यंत तो शरीर पर है या नहीं भी है उसका जाति उसमें अभिव्याप्त रहता है शरीर पर रहते वक्त वह अपना अभिमान के साथ वह जीवित है और शरीर से अलग हो जाए वह अंग वह अभिमान रहित होकर मेरा करके जरूर कहता है लेकिन वह सजीव नहीं हो सकता जैसा प्राण संचरण नहीं रहेगा जैसा आपके हाथ काट के रख दिया गया डॉक्टर ने कह दिया भैया इसमें जहर चढ़ गया काट दो नहीं तो फिर आगे गड़बड़ हो जाएगा तो आपने कटवा दिया वो पड़ा है वहाँ आगे मेरे हाथ का ही टुकड़ा है लेकिन उसे खाओ पियो नहीं खा पी वो अब रहित हो चुका है निर्जीव हो गया लेकिन तब भी संबंध अभिव्याप्त है ठीक उसी प्रकार हिरण्य गर्भ में भी समझो ये प्रत्येक जीव उसके अवय होने के सभी में हिरण्य गर्भत्व तो व्याप्त है यथा स्वयं हिरण्य गर्भ का अभिमान भी उसी प्रकार व्याप्त है ये कह रहे हैं तीसरे कहते हैं यहाँ लिंगात्म सहता सर्वे जीवा उसके लिंग शरीर में ही हम समस्त जीव संगठित होकर रह रहे हैं सहत हैं इसमें कोई संशय नहीं है तस्मात इसलिए उनका दूसरा नाम क्या है वह जीव घन स जीव घन इसलिए हिरण वर्ग का एक नाम रख दिया गया वो क्या है वो जीव घन है सजीव घन मात्र ओंकार अभिज्ञा विद्वान कौन विद्वान जो अंक वाला जो इसे विशिष्ट ओंकार का जो सम्यक ज्ञाता है वह एक जीव घनादपि हिरण्य गर्भान वह एकादृश जो जीव घन हिरण्य गर्भ है उससे परात जो कि पर है उससे भी परम कौन परमात्माभ्यम पुरुषम जो परमात्मा है शुद्ध ब्रह्म जिसमें वह समस्त हिरण्य गर्भ भी आरोपित है अध्यारोपित है उस परमात्म तत्व को पुरुष तत्व को इच्छते उसका नाम पुरुष क्यों बड़ा क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं है वो हिरण गर्भ जाओ हिरण गर्भ परे कहीं और होगा जैसे अनेक छात्रकार ने फरात परम कर दिया उसके साथ आसमान के ऊपर ढूंढो उसको ये सात आसमान के ऊपर नहीं है तो हिरण भी तो यही अंदर है ना समष्टि में व्याप्त रह रहा है प्रत्येक अवय में भी तो रह रहा है वो इसलिए गोत्र अनुष्ठान दिया प्रत्येक अवय में भी तो हमारे अंदर भी कहीं बाहर तो है नहीं अलग कहने लो सत्य लोग में बैठा हुआ है कह दिया जाता है वो सत्य लोग और नहीं यह ही है वो सत्य कहा है रतम्बरा प्रज्ञा प्रथम एवं सत्यम सहर्ष प्रज्ञा ऐसी रतम्बरा प्रज्ञावान पुरुष के अंदर ही वो हिरण्य गर्भ है वही सत्य लोग है और गए अन्य तो नहीं है इसलिए छठा प्रश्न आएगा अभी अरे ब्रह्म कहा ढूंढू छठे प्रश्न में ये प्रश्न उठेगा वो ब्रह्म को हमको ढूंढाओ बताओ कहाँ है वो कौन से लोक में वो हिरण्य देवी परे परात परम आपने कह दिया उससे पर कौन सा लोक है वो जहाँ ब्रह्म होगा वहां पहुंचेंगे जो पूछेगा अरे कहते तो वहां षोड़श कल वाला पुरुष यही भीतर है तो सुरदर गुफा का अंतर्मुख के भीतर जाओ तो सब कुछ अनुभव हो जाएगा तो उसी बात की भूमिका है ना अंतिम समाप्ति पे है ना ये इस प्रश्न का इसलिए कह रहे तस्वाद परात परम मने परमात्मा किम पुरुष है परमात्मा का पुरुष पुरीशयम सर्व शरीर प्रविष्टम क्योंकि शरीर रूपी पुरी में वह निरंतर वास कर रहा है सर्व शरीर प्रविष्टम सकल शरीरों में वह प्रविष्ट है ऐसा उसे पश्यती स विद्वान ध्यायमान वह विद्वान परमात्म विशिष्ट ओंकार का ध्यान करता हुआ उस परमात्मा की अनुभव करता है तदे तस्मिन यथोक्तार्थ प्रकाश को मंत्र इस यथोक्त अर्थ प्रकाशन करने वाले ये दो मंत्र और भी स्पष्ट करेंगे इन बातों को तीसरो मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्योन्य सत्ता अनभिप्रयुक्ता क्रिया सुबह मध्यमास सम्यक प्रयुक्ता सुनकम पदे तो जो ज्या है न कम पदे ज्या जो ज्ञानी है विद्वान है वह कभी किसी भी प्रकार के दुख कार्यों से अपने स्वरूप से विचलित न होने के कारण से दुख कार्यों से विचलित तो नहीं हो सकता क्यों क्योंकि वो इस बात को चित्र से जानता है केवल मात्र की उपासना करना गलत है केवल ऊ मात्र की उपासना करना भी गलत है केवल मां मात्र को उपासना करना भी गलत ये तीनों मृत्यु मत्या तीसरो मात्रा मृत्यु मत्या ये कारण है जो कल की सारी टीकाकार ने कहा था कि भाई मां को प्रदान करो तीनों दोनों और भी रखना वो गौंड रहेगा कम कम मात्रा में लेना और मां मात्रा अधिक लो और नाद बिंदु कला इन पर और चढ़ो लेकिन संपूर्ण को लेके चलना है है ना वही क्री से लेकर कलातीत तक जाना है ओमकार को लेकर के किसी एक अवयव को लेकर चला एक किसी अवयव को लिया तो आप मृत्यु मत दिया वो तो अनित्य फल देगा मृत्यु मत मैंने अनित्य फल देने वाली मात्राएं हैं ये नित्य फल देने वाली मात्राएं नहीं है इसलिए इनका कहते हैं देखो कि तीसरो मात्रा मृत्युमत प्रयुक्ता पृथक पृथक प्रयोग होता है तो अन्योन्य सत्ता और यदि परस्पर संबद्ध होकर करते हो तो अन्योन्य सत्ता अनभिप्रयुक्ता वे मात्राएं ध्यान की क्रियाओं में यदि प्रयुक्त होती हैं और ये परस्पर संबद्ध होते हैं तब तो वे विपरीत प्रयोग के योग्य नहीं रह जाते अविप्रयुक्ता विरुद्ध न प्रयुक्ता न भवंती उल्टा पुलटा नहीं किया गया है आपको बाद में ऊ को पहले उल्टा सोटा कोई क्रम नहीं विप्रयुक्त वो नहीं होंगे कब क्रियासु कौन सी क्रियाओं में ध्यान कहाँ होगा एक अलग कोई समय है उसके लिए बैठ रहे को नहीं जागृत सुशिव ने तीनों ही कालों में बाह्याभ्यंतर मध्यम बाह्य हो गया जागृत आभ्यंतर सुषुप्ति मध्यम हो गया स्व इन तीनों ही अवस्थाओं में निरंतर स्वरूप का ही ध्यान होना चाहिए तो ये तीनों अवस्थाएं मह से गृहित है ना मह से तीनों अवस्थाएं गृहित है जब आहु विशिष्ट म प्रधान जब आप ओम के उच्चारण करेंगे उस पर ध्यान करेंगे सदर्थता हो बोध का चिंतन करेंगे तदर्थ भावना किए न केवल चिल्लाते रहने से कोई फायदा नहीं ओम ओम करते रहो क्या फायदा होगा उससे अर्थ की भावना करो वह अवस्था त्रय और तुरी का उपोध करो नाग बिंदु कला क्या है तुरी का उपोध युद्धवेष्टि का उपयोग हो गया अवम तत्प्रतीक समष्टि में भी उनको ले लिया आपने है ना तद ऋग्वेद जाओ उस लोग को ले जाएगा अमुक लोग को ले जाएगा ब्रह्म लोग तक ले लिया भूभुआ स्वाहा तीनों को आपने उठा लिया लेकिन उससे आगे जो नाग बिंदु कराए वो इससे ऊपर की अवस्थाओं को बताते और कुछ नहीं कि पादशी का भूतानी त्रिपादशी अमृतम देवी ये सारे भूत और स्व कहा है पूर्वस्व तीनों एक पाद के अंदर है और जो ब्रह्म का जो विशुद्ध स्वरूप त्रिपाल है जहां पर अध्यारोपित अंश रहित है तो विशुद्ध तत्व नाद बिंदु और कलाएं बता दी और उससे भी बड़े तद अतीत हो जाओ तमाम और किसी भी प्रकार का अध्यारोप सर्वध्यारोप रहित शुद्ध और अशुद्ध रूपी आरोप से भी रहित तार स्थिति नाद बिंदु कलातीत कहा जाता नाद बिंदु उपनिषद पढ़ेंगे उसमें सारे विस्तार से समझाया गया इन चीजों को तो इसलिए यहाँ पर कह रहे कि देखो क्रियासो बाय आभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रत्याशी जब सम्यक प्रकार से इस प्रकार जागृत और स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों ही अवस्थाओं में ओंकार की उक्त मात्राओं का सम्यक प्रकार से जब प्रयोग कर लेता है वह विद्वान पुरुष अपने स्वरूप से कभी छुप नहीं होता न कम होता कंपायमान नहीं होता स्वरूप से च्युत न होने के से स्वरूप से कभी हटता नहीं है अतएव वह सांसारिक किसी प्रकार से पुण्य पापों से संबद्ध नहीं हो सकता तीसरा त्रिसंज्ञा का अकार उकार मकाराख्या ओंकार से मात्रा कृष्ण में संख्या वाले कौन है वो एक अ है दूसरा वो तीसरी मो ओंकार से मात्रा ये ओंकार की मात्राएं हैं मृत्यु मध्य मृत्यु रियासा में देता मृत्यु मध्य मृत्यु गोचराद अनधिक्रांता मृत्यु गोचरा एवं मृत्यु मध्य का मतलब मृत्यु रिया मृत्यु है जिनका तदस्य अस्विन है ना तदस्य अस्थि ले लिया है ना षष्टी मृत्यु यासा विदित है जिसका फलस्वरूप कहते हैं फल अंत वाले हैं जिनका फल अंत वाले होते हैं उनको हम क्या कहेंगे मृत्यु मृत्युमत्य मृत्यु क्योंकि मृत्यु का विषय वाले हैं वो मृत्यु के विषय बात कम नहीं करते मृत्यु का चराज अनधिक्रांता मृत्यु के विषय को अतिक्रमण उन्होंने नहीं किया अर्थात मृत्यु गोचर एवं अर्थ मृत्यु का विषय होते ही है अर्थ विनाशी ही है वो केवल केवलो केवल सब विनाश केवल में भी ब्रह्मलोक जाओगे ब्रह्मलोक हो जाकर के वहां मुक्ति नहीं होगी क्योंकि ब्रह्मलोक का पहले विचार आ चुका ना तीन गतियां ब्रह्मलोक में भी एक तो है वहां पर जाके ज्ञान पर भी सद्य मुक्ति हो गया वहां पर सद्य मुक्ति हो गया यहाँ से क्रम मुक्ति न गए फिर वहां सद्य मुक्ति हो गया दूसरा ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी के साथ सदमुक्त होने वाले हैं और तीसरा एक नहीं उनका ऐसे बनाएगा बना कि कम मात्र कारण से वो अगले कल्प में यमराज्य हो जाएंगे या इंद्र हो जाएगा कुछ न कुछ देवता बन जाएगा झील मुक्त तो है लेकिन फिर उनको लौटना तब भी बढ़ेगा लौट करके अपना पद की गरिमा का पालन करते हुए फिर मुक्त हो सकते भी नहीं उससे पहले नहीं होंगे और लंबी प्रक्रिया होगी ना उनकी तो टाइम बहुत लगेगा यदि ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जा रहा है ये भी काफी लंबा समय वहां तब तक बेकार पड़ा रहो जीवभा में रहना तो पड़ेगा शरीर में तो रहना पड़ेगा वो ठीक है वहाँ किसी प्रकार दुख नहीं कुछ नहीं परमानंद स्वरूप वाला ब्रह्मलोक का शरीर है वहां मजे में रह रहा है इन रहना तो पड़ेगा और ये और भी खराब है उतना समय तो रहा नहीं